से संतुष्ट हो लें ऐसी स्थिति जिससे कि पूरे एक घंटे तक अथवा यथा सामर्थ्य अधिक देर तक स्थिरता से बैठ सकें तनाव खिंचाव को मांसपेशियों को ढीला करके हटाने का प्रयास करें नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें आसन की सम्यक स्थिति समग्रता से अवलोकन करें स्थिति की एक छवि स्मृति बनाएं अब प्रसन्नता पूर्वक अपना सौभाग्य मानते हुए आज की उपासना के अवसर को भली प्रकार करने का जागरूकता से करने का संकल्प लें श्वास को देखें मन को नथनों पर लाकर श्वास का अनुभव श्वास को धीरे धीरे लंबा कर दें मंद गति से लंबा लयबद्ध श्वास और प्रश्वास नियंत्रण के साथ संयमित रूप से श्वसन मन को नथनों पर लगाए रखें आते जाते श्वास का अनुभव आप श्वास को सामान्य छोड़ दें मन की स्थिति देखें अपा के तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को भरें और तेजी से बाहर छोड़ दें मूल बंद लगाएं नाभि और उससे नीचे का भाग पीछे खींचें घबराहट होने तक यथा सामर्थ्य रोके रखें और सामर्थ्य पूर्ण होने पर श्वास ले लें एक दो सामान्य श्वास लेके इसी प्रकार दूसरा और तीसरा प्राणायाम कर लें प्राणायाम होने पर मन का निरीक्षण करें मन पर पड़े प्रभाव को अनुभव करें प्रत्याहार अंतर्मुखी ही बने रहकर इंद्रियों के साथ हुए विषयों के संपर्क पर मन को न लगाते हुए आंतरिक कार्य ध्यान का कार्य करते रहने का संकल्प लें बाह्य विषय को उपेक्षित रखते हुए जो ध्वनिया सुनाई दे रही हैं उसे उपेक्षित रखते हुए ये विचार न करें ये किस वाहन की ध्वनि है किस दिशा से आ रही है ध्वनि आई उपेक्षित कर दी अंतर्मुखी स्थिति आप मन को धारणा स्थल पर टिकाएं धारणा स्थल की संवेदनाओं को पकड़ें आप मन को यहीं स्थिर रखते हुए ओम के माध्यम से ध्यान का अभ्यास ओम के जिस अर्थ को भावना रूप में रखना चाहें इच्छा अनुसार रख लें की भावना को प्रधानता प्रदान करें केवल ओम का जप और अर्थ की भावना में महान गुणों वाले परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं मैं निराकार चेतनात्मा के गायत्री मंत्र कविता का पाठ करते हुए ध्यान का अभ्यास उत्तम बुद्धि की कामना प्रार्थना आज किए गए उत्तम बुद्धि के उपयोग रूपी पुरुषार्थ को स्मरण रखते हुए और आगे करने के संकल्प के साथ ईश्वर से सदैव सत्प्रेरणाओं और उत्तम बुद्धि की कामना तत् सवितुर् त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता मो हे सुखदा पितावरेण्यं सविता माता पितावरेण्यं भगवन भ्राता ओ शुद्ध स्वरूप करें हम तेरा शुद्ध स्वरूप कर्म में विश्व ईश्वरीय प्रेरणाओं से युक्त ईश्वरीय सद्बुद्धि को प्राप्त करने पर मेरा जीवन कैसा होगा मैं कितनी अच्छी तरह निष्काम भाव से पवित्र कर्मों को कर रहा हूंगा उस स्थिति को स्मृति में लाएं उसकी भावी कल्पना को मन में लाएं अभी मेरे में बहुत सा अज्ञान है कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया है उससे इतने कर्म अच्छे हो गए हैं जिस दिन मेरा प्रत्येक कर्म ईश्वर के शुद्ध ज्ञान के अनुरूप होगा उस दिन कितनी ऊंची स्थिति होगी आंतरिक दृश्य बनाए अपने को उस स्थिति में देखें धीरे से रुकेंगे आगे वैदिक संध्या के माध्यम से ध्यान का अभ्यास अभी तक प्राप्त स्थिति को बनाए रखें यदि किसी की धारणा छूट गई हो पुनः लगा लें आसन में कोई असुविधा हो तो आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए थोड़ा हिला डुला कर व्यवस्थित कर लें चेहरे का निरीक्षण करें आंखें यदि भींच ली हों तो ढीली कर दें भौहों पर सलवटें आ गई हों तो ढीला करते हैं ईश्वर की कृपा की कामना ईश्वर की कृपा में रहते हुए आज दिन में जो आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास किया उस पुरुषार्थ को स्मरण रखते हुए ईश्वर से इसी प्रकार कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करेंगे ओ... शन्नो देवी रभेष्टय की सबलता के पुरुषार्थ को स्मरण करते हुए उनकी सबलता के लिए और प्रार्थना ओ शोबल बलम् करतलकरपृष्ठे आज के पवित्र आचरण के स्मरण पूर्वक इंद्रियों की और अधिक पवित्रता की कामना भू पुना तो से तु सत्यं ॐ तो पुनः शिरसि मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति के लिए प्राणायाम मंत्र और तीन बाह्य प्राणायाम आंतरिक स्थिति को शांत रखते हुए मन की और दृढ़ता नियमन के लिए बाह्य प्राणायाम श्वास को भर के अंदर रोक लें पंथ लगाएं मन में प्राणायाम मंत्र अथवा ओम का जप करते रहें घबराहट होने तक यथाशक्ति रोके रखें और फिर मूल पंच छोड़ते हुए श्वास को बाहर निकाल दें एक तो सामान्य श्वास इसी प्रकार दूसरा और तीसरा प्राणायाम जिन्हें प्राणायाम नहीं करना है वे मन में ओम अथवा गायत्री का जप कर लें आगे अघमर्षण मंत्र अपने आज के किसी दोष को दुर्भावना को स्मृति में लाएं और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता न्यायकारिता मन में लाते हुए इस दोष की हानि देखें दोष को अपने से दूर हटता देखें रे संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द मनसो धाता यथा पूर्वमकल्पया देवं च पृथिवी कर्म उसकी दुर्भावना को विचार को क्षीण किया अपने को उससे अलग किया पवित्र जीवन के लिए परमात्मा से पुनः कृपा की प्रार्थना ओ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न परमात्मा मेरे पर कल्याण की वृष्टि बनाए रखे मनसा परिक्रमा जिन्हें मंत्र और अर्थ स्मरण है वो अर्थ की भावना साथ में करते चलेंगे जिन्हें अर्थ स्मरण नहीं है मंत्र नहीं याद है वे केवल सुनेंगे भिन्न भिन्न दिशाओं में परमात्मा के विभिन्न गुणों को स्मरण में लाएंगे परमात्मा को अधिपति स्वीकार करते हुए रक्षक स्वीकार करते हुए उसके प्रति नमन का भाव लाएंगे जिसके प्रति द्वेष है उस किसी एक व्यक्ति को अथवा आज दिन में व्यवहार काल में जिसके प्रति द्वेष उभरा उसे परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हुए अपने को उससे पृथक कर लें धीरे धीरे पृथक करते जाएंगे रतिरसितो रक्षिता दित्या ईशवः तेभ्यो नमो तिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ए धिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो

पतेः प्रेताको रक्षिता तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमः एभ्योस्त योस्मान्देष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदत्मः उतीचितिक्सोमो बुद्धिपते सजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदत्मः शक्रियो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो रतिरधिपतिः क्षेत्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो द्वेष को हटाते हुए अपने को पवित्र करते हुए अघमर्षण करते हुए दुर्भावनाओं को हटाकर अब पवित्र होते हुए ईश्वर की निकटता को विचार में लाएं ईश्वर पवित्र आत्माओं के निकट है हे प्रभु मैंने दिन में साधना करते हुए उचित व्यवहार करते हुए अपने को पवित्र बनाए रखने का यत्न किया है और अब ध्यान में भी अपने विचारों को शुद्ध करते हुए आपके निकट आ रहा हूं हे प्रभु मुझे अपने निकट बनाए रखें उपस्थान मंत्र ओ... तमसस्परी स्वाह तमसस्परिस्वाह पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चेत् मित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रात्यावापृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा पुरस्ता शुक्रमुचरा पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत शृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतम् अतीनाश्याम शरद शत भूयश्च शरद शता हे देवाधिदेव आप देवों के हृदय में प्रकट होते हैं हे प्रभु हे परम देव मैंने साधना को प्रारंभ करके अपने को देव बनाना प्रारंभ कर दिया है आप देवों के हृदय में प्रकट होते हैं हे प्रभु मैं अपने को पूर्ण देव बनाकर आपके प्रत्यक्ष करूंगा आपके आनंद को पाऊंगा हे प्रभु आप समस्त दुर्भावनाओं को हटाने के लिए सबसे बड़े बल हैं आप सबके मित्र हैं आप सबके ज्ञाता हैं इस समस्त जड़ चेतन जगत को आप ही पालन कर रहे हैं इनका धारण आप ही कर रहे हैं हे प्रभु मेरी ये साधना दीर्घ काल तक चलती रहे मैं सौ वर्षों तक भली प्रकार देखता रहूं ये जीवन सौ वर्ष तक चले मेरी इंद्रियां सौ वर्ष तक क्रियाशील रहें ताकि मैं इस पार मिले मानव शरीर का अधिकाधिक उपयोग अपनी आंतरिक उन्नति के लिए कर सकूं अत्यंत गुणवान परमात्मा और अत्यंत हितकर परमात्मा को स्मरण करते हुए उसे अपना परम हितैषी स्वीकारते हुए अपना आत्मीय स्वीकारते हुए अत्यंत निकटता का भाव बनाएं ईश्वर की निकटता को बनाए रखते हुए आप आज की उपासना को देख लें निरीक्षण करें अच्छी उपासना के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और आगे के लिए और अच्छी ध्यान उपासना कर सकने की सामर्थ्य और विश्वास अपने में स्थापित करें मैं भी अच्छे साधकों की भांति योगियों की भांति ध्यान साधना कर सकता हूं मैं भी उन ऊंचाइयों को उन गहराइयों को पा सकता हूं जो योगी लोग पाते हैं मैं भी उच्च स्तर की एकाग्रता और शांति की स्थिति बना सकता हूं अब आज की उपासना के सबसे अच्छे क्षणों को स्मरण कर लें भले प्रकार स्मरण करते हुए अपनी अभी की स्थिति वहीं पहुंचा दें अपने को उसी स्तर पर पहुंचा दें केवल उसी स्थिति का स्मरण अब इसे बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ की उंगलियों में गति दे लें हाथ को दूसरे स्थान पर सरका लें पीछे हाथों का सहारा ले लें टिका लें पैर की अंगुलियों में गति दें टखनों को क्रियाशील करें घुटनों को खोल लें आंतरिक स्थिति बनाए रखने का सतत प्रयास रखें नेत्रों को थोड़ा सा खोलें और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं नेत्रों को पुनः बंद कर लें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बढ़े चले हम रुके न क्षण भी बढ़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा आंतरिक स्थिति को और अच्छा बनाए रखें शिविर के अंतिम दिनों में स्थिति और अच्छी होनी चाहिए शिविर की समाप्ति को मन में रखते हुए आंतरिक स्थिति को ढीला न छोड़ें अपने को और अच्छी स्थिति में पहुंचाएं अच्छी स्थिति में बनाए रखें नेत्रों को थोड़ा खोलकर अंतर्मुखी रहते हुए मौन का पालन करते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शब्द